का जरिया न बनाओ कि लोगों के कदम जम चुकने के बाद लड़खड़ा जाए और इस वजह से कि तुमने लोगों को अल्लाह के रस्ते से रोका तुमको सजा चखनी पड़े और तुम्हें बड़ा सख्त अजाब मिले और अल्लाह से जो तुमने अहद किया है उसको मत बेचो और उसके बदले थोड़ी सी कीमत न लो क्योंकि इफाए अहद का जो सिला अल्लाह के यहां मुकर्र है वो अगर समझो तो तुम्हारे लिए बेहतर है जो कुछ तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाता है और जो अल्लाह के पास है वो बाकी है कि कभी खत्म नहीं होगा और जिन लोगों ने सब्र किया हम उनको उनके अमाल का बहुत अच्छा बदला देंगे من عمل صالحا من ذكر أو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 परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं उन पर उसका कुछ जोर नहीं चलता उसका जोर उन्हीं लोगों पर चलता है जो उसको रफीक बनाते हैं और उसके वसवसे के सबब अल्लाह के साथ शरीक मुकर्र करते हैं और जब हम कोई आयत किसी आयत की जगह बदल देते हैं और अल्लाह जो कुछ नाजिल फरमाता है उसे खूब जानता है तो काफिर कहते हैं कि तुम तो अपनी तरफ से बना लाते हो हकीकत यह है कि उनमें अक्सर नादान है कह दो कि इसको रूहुल कुदस तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से सच्चाई के साथ लेकर नाजिल हुए हैं ताकि ये कुरान मोमिनों को साबित कदम रखे और हुक्म मानने वालों के लिए तो ये हिदायत और बिशारत है يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا और हमें मालूम है कि यह कहते हैं कि इस पैगंबर को एक शख्स सिखा जाता है मगर जिसकी तरफ तालीम की नस्बत करते हैं उसकी जबान तो अजमी है और यह साफ अरबी जबान है जो लोग अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते उनको अल्लाह हिदायत नहीं देता और उनके लिए अजाब अलीम है झूठ तो वही लोग बांधा करते हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते और वही झूठे हैं जो शख्स ईमान लाने के बाद अल्लाह के साथ कुफर करे वो नहीं जो कुफर पर जबरदस्ती मजबूर किया जाए और उसका दिल ईमान के साथ मुतमिन हो बल्कि वो जो दिल से और दिल खोल कर कुफर करे तो ऐसों पर अल्लाह का गजब है और उनको बड़ा सख्त अजाब होगा ये इसलिए कि उन्होंने दुनिया की जिंदगी को आखिरत के मुकाबले में अजीज तर रखा और इसलिए कि अल्लाह काफिर लोगों को हिदायत नहीं देता उला وأولئك यही लोग हैं जिनके दिलों पर और कानों पर और आंखों पर अल्लाह ने मोहर लगा रखी है और यही गफलत में पड़े हुए हैं कुछ शक नहीं कि आखिरत में यही लोग खसारा पाने वाले होंगे फिर जिन लोगों ने ईजाएं उठाने के बाद तर्क वतन किया फिर जिहाद किया और साबित कदम रहे तुम्हारा परवरदिगार उनको बेशक इन आजमाइशों के बाद बख्शने वाला है रहमत करने वाला है